और याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बेटो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना और मैं तुम्हें अल्लाह के फैसले से कुछ नहीं बचा सकता अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलता मैंने उसी पर भरोसा किया है और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए